नविया पंजाब यूनिवर्सिटी के ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ ਸੈਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ सारे सर सैयद ये भी खुद नक्शे सर सैयद ये भी खुद उनके तमाम हवाला जात तो उनके घर दे सीरत सर सैयद के अफकार उनके सीरत सर सैयद के सर सैयद के सीरत और अफकार का अफकार का तनकीद जाएगा हयात सर सैयद दारुल किताब लाहौर तो छपिए पहली बार बंदा उठे हाँ जी ये उठे पहली बार हाँ जी से अकीदा पता नहीं लगेगा ये मैं भाई है उठे यूनिवर्सिटी तो एम एस की तय पर अपने वडेरे में लिखता है चंगे से होते होंगे बारे में की कहानी उनकी तो अंग्रेज पादरी आ बैठा किसी ते ओनू भी सर सैयद यही है उन्हें अच्छा मैं बड़ा चाहत रखता था मिलन दी चलो आज ऐसे बहाने मुलाकात ही सही आंदा जनाब आपकी मुलाकात का शौक था मैं आपसे खुदा की बातें करनी चाहता था सर सैयद ने कहा मैं नहीं समझा आप किसकी बातें करना चाहते हैं उसने कहा खुदा की सर सैयद ने कमाल संजीव जी से कहा मेरी तो कभी उनसे मुलाकात नहीं इसलिए मैं उनको नहीं जानता यानी खुदा में पादरी ने ताजब से कहा है आप खुदा को नहीं जानते उन्होंने कहा मुझे पर क्या मौकूफ है जिससे मुलाकात ना हो उसको कोई नहीं जानता फिर किसी शख्स का नाम लेकर पादरी से पूछा कि आप उसको जानते हैं तो पादरी ने कहा नहीं मैं उसको उससे कभी नहीं मिला तो सर सैयद ने कहा फिर जिससे मैं कभी न मिला हूँ न मैंने कभी उसको अपने हाथ खाने पर बुलाया हो न मुझको उसके हाथ खाने पर जाने का इतफाक हुआ हो उसको मैं क्यों कर जान सकता हूँ पादरी ये सुनकर खामोश रहा और दूसरे अंग्रेज से अंग्रेजी में कहा ये तो सख्त काफर है पादरी क्या आख दे ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ क्या ਆਖ ਰਹੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਫਰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਬੰਦਾ ਕਾਫਰ ਆਖੇ ਉਹ ਕੀ ਬਲਾ ਹੋ फिर अकबर फिर खैसर सैयद से उसने कोई बात नहीं की यानी वो पादरी में जो गैरत आई है ना जो लानती मैं चलो तेन मनना तो तू तो हिक नहीं मनना मैं तेरे नाल बोलना ही नहीं पूरी गड्डी च ओने गल नहीं की पादरी में तो गैरत आ गई है पर एक मनने वाले में गैरत नहीं आई है अपना भी पुत्र मोड़ी होने कोई ना अच्छा तुसा दसो भी जरा खुदा जानते ही नहीं हो बोलो सची बोलो